और उस शख्स ने कहा जो ईमान लाया था ए मेरी कौम तुम मेरी पैरवी करो मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखा दूंगा